पूज्य स्वामी जी महाराज सम्मान के योग्य आचार्य वृंद ब्रह्मचारियों वानप्रस्थ साधकों घर से निकल करके बारह वर्ष तक मैंने आश गुरुकुलों के अंदर संस्कृत भाषा व्याकरण साहित्य निरुक्त दर्शन उपनिषद छंद काव्यालंकार इतिहास और कुछ पुराण इतने ग्रंथों का अध्ययन किया और मैं अपने आप को ये मानने लगा कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हो गया हूं बोलना भी आ गया था प्रभाव भी पड़ा धन संग्रह भी होने लगा प्रतिष्ठा यश कीर्ति की प्राप्ति भी हुई और विदेश जाने की तैयारी मैंने कर दी आज से तेईस वर्ष पहले मेरी बहुत इच्छा थी तीव्र इच्छा विदेश जाने की क्योंकि मैंने यहां पर विदेशियों को देखा था देश भर में घूमते हुए बाइबल का प्रचार कर रहे थे मेरे मन में भावना तीव्र तीव्र से तीव्र तर तीव्रतम होती गई कि मैं भी विदेश में जाके कार्य करूं लेकिन स्वामी जी महाराज का पत्र आया कि मैं एक विशेष शिविर लगाने जा रहा हूं आरिवन में आप यहां पर आए दो वर्ष के लिए मैंने निषेध कर दिया उनको मैंने कहा नहीं मैं विदेश जाने की योजना बना ली है और मैं विदेश जाऊंगा मेरा वीजा बन गया पासपोर्ट बन गया वीजा बन गया मैं ईस्ट अफ्रीका में जाने वाला था फिर दोबारा पत्र लिखा कि मैं इस प्रकार से विशेष योगाभ्यास कराऊंगा दर्शन की आपकी आवृत्ति होगी कुछ विशेष चीजें बताऊंगा मैं फिर मैंने निषेध कर दिया मैंने पढ़ लिया दर्शन तो पढ़ लिए हैं पढ़ाता भी हूं प्रवचन भी करता हूं लिखता भी हूं फिर उनका पत्र आया एक बार दो बार तीन बार चार बार पांचवी बार उनका पत्र आया यदि आप मुझे अपना गुरु मानते हैं आपने मेरे से कुछ सीखा है जाना है और कृतज्ञता के भाव हैं तो ये मेरा आदेश है ऐसा मान के चलिए दो वर्ष का समय मुझे दीजिए मैं ऐसा समझता हूं कि आपके जीवन के अंदर विशेष उन्नति होगी जब ये भाव आए तो मैंने अपना जाना स्थगित कर दिया और मैं यहां आ गया इस स्थान पर तेईस वर्ष पहले यहाँ आने के दो वर्ष के बाद में मैंने अनुभव किया कि घर को छोड़कर के भी धंधे को छोड़कर के भी माता पिता धन संपत्ति प्रतिष्ठा को छोड़कर के भी और संस्कृत भाषा और व्याकरण और निरुक्त और दर्शन उपनिषद इनको पढ़कर के भी प्रवचन देकर के भी लिख करके भी मैं लौकिक था वही राग और द्वेश और मुह लिप्त था मैं बारह वर्ष तक मैंने गुरुकुलों में पढ़ाया भी पढ़ा भी प्रवचन भी दिए शिविर भी लगाए मैंने बहुत कुछ योग्यता बन गई लेकिन यहां आने के बाद मैंने अनुभव किया कि मैं सांसारिक था लौकिक था राग देश और मुंह से युक्त था मैं क्यों इसका उत्तर यह है कि व्यक्ति अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को लक्ष्य को मार्ग को साधनों को शैली को समझ नहीं पाता है उसको बताने वाला नहीं मिलता है स्वयं परीक्षण निरीक्षण कर नहीं पाता यहां आने के बाद में हमको प्रतीति हुई कि जीवन अभी निर्माण नहीं हुआ है जीवन का निर्माण क्या है प्रगति क्या है उन्नति क्या है विकास क्या है ये भी पता नहीं था हमको और सामान्य व्याकरण पढ़ करके भाषा पढ़ करके दर्शनों का सामान्य ज्ञान करके हमारे मन में अभिमान उत्पन्न हो गया कि बहुत कुछ विद्वान बन गए तो विदेशों में जाकर के पता नहीं क्या तूफान मचाएंगे हम लेकिन यहां आने के बाद अनुभूति भी नहीं लौकिक बने हुए ये क्यों हुआ ये आत्मनिक्षण करने के उपरांत ईश्वर मैंने अनुभव किया है और मैंने प्रत्यक्ष किया अनुभव किया है लोगों को भी कराया मैंने ईश्वर की उपासना के बाद में आत्मनिरीक्षण एक ऐसा साधन है एक ऐसी प्रक्रिया है एक ऐसी विधि है एक ऐसी शैली है जिसके माध्यम से व्यक्ति शीघ्र से शीघ्र बिना किसी विशेष साधना के स्वयं ही अपने जीवन को उन्नत बना लेता है और जिसका ईश्वर की उपासना में गति नहीं है रुचि नहीं है और योग्यता नहीं है ठीक प्रकार से पुरुषार्थ नहीं करता है ज्ञान विज्ञान का अभाव है समय का अभाव है तो फिर तो यही मुख्य कार्य रहता है यदि मैं कहूं तो अतिशोक्ति नहीं है मेरे विचारों का भावों का उल्टा अर्थ नहीं लेंगे ईश्वर की उपासना से मेरे को लाभ नहीं हुआ क्योंकि मैं जानता ही नहीं था ईश्वर क्या है ईश्वर का स्वरूप क्या है उसके सानिध्य कैसे प्राप्त की जाए ये पता ही नहीं था इसलिए उपासना ठीक होती नहीं थी इसलिए आत्मनिरीक्षण के माध्यम से मैंने अपने जीवन के अंदर शीघ्र से शीघ्र मोड़ दिया तीव्रतम उन्नति हुई मेरी यह ऐसा विषय है यह आत्मनिरीक्षण विषय ऐसा है कि जिसके अंदर व्यक्ति स्वयं अपने प्रश्न लिखता है स्वयं ही उसके उत्तर लिखता है स्वयं ही अंक देता है स्वयं ही परिणाम सामने लाता है स्वयं ही देखता है उसको अपने आप को देखना हमसे बड़ी भूल होती है हम दुनिया को देखते हैं स्वयं को देख नहीं पाते हैं परांच खानी व्यथृणत स्वयंभू तस्मात परांग पश्यति नान्तरात्मन श्लोक है उपनिषद के अंदर हम बाहर ही बाहर देखते हैं अंदर की ओर देखते नहीं यहां आने के बाद मेरे को प्रतीति हुई दर्शनों को गहराई से पढ़ करके प्रतीति हुई कि सुबह से लेकर के रात्रि पर्यंत जब तक नींद नहीं आती है हर घंटे हर पल दोषों से पापों से युक्त ही रहते हैं लास्टिंग दृष्टिकोण से अथवा तो राग से युक्त अथवा देश से युक्त अथवा मोह से युक्त ये तीनों में से कोई न कोई दोष लगा रहता है हमारे प्रत्येक प्रक्रिया में सही से कुछ बोलना हो सही से कुछ करना हो वाणी से कुछ बोलना हो मन से कुछ विचारना हो इनके अंदर हर कार्य में ये तीन में से कोई न कोई दोष लिप्त रहता ही है ये अनुभव किया मैंने ये प्रती हुई क्योंकि ईश्वर को जो व्यक्ति छोड़ देता है वो अपने संस्कारों से युक्त होता है क्या वातावरण से कुछ जो संस्कारों से युक्त होता है संस्कार व्यक्ति के अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं लेकिन बुरे संस्कारों को शीघ्र व्यक्ति उठा लेता है ये परिणाम निकला यदि मैं कहूं तो तिशक्ति नहीं होगी कि प्राय आध्यात्मिक मार्ग में देखने में आता है कि व्यक्ति सूक्ष्मता से अंदर की ओर झांकता ही नहीं है और बिना अंदर झांके अपने त्रुटियों को कमियों को पता लगा नहीं पाता जैसे मैंने आपको बताया अपने विषय में इतना पढ़ लिख करके योग्य बनकर के भी मैंने ये अनुभव किया कि कोई उन्नति नहीं हुई सारे बारह वर्ष मैंने आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बेकार खो दिए आध्यात्मिक उन्नति नहीं हुई जिसको हम निश्रेष कहते हैं जिसको हम देवयान कहते हैं उपनिषद की भाषा में दर्शन की भाषा में निश्रेष कहते हैं वेद की भाषा में जिसको पीति कहते हैं आप मंत्र पढ़ते हैं ना सन्नो देवी रविष्ट आपो भवन तो पीत दो चीजें हैं अभिष्टि और पीति अभिष्टि का मतलब लौकिक उन्नति पीति का मतलब आध्यात्मिक उन्नति पूर्ण आनंद प्राप्त कराने वाली तो पीति को तो छुआ ही नहीं था प्रेम श्रेय मार्ग को तो छुआ ही नहीं था देवयान को समझा ही नहीं था योग मार्ग को समझा ही नहीं था ईश्वर ईश्वर प्रणधान और ईश्वर की सन्नति को समझ नहीं पाए ध्यान देना आध्यात्मिक योग विद्या को समझे बिना संस्कृत पढ़ा लिखा व्यक्ति भी झूठा छली कपटी अन्यायी पक्षपाती दुराचारी व्यभिचारी मांसारी जुआरी सबाब कबाबी सब कुछ हो सकता है इतिहास बताता हूं साउथ में हमने देखा वेद पाठी ध्यान देना वेद पाठी ओम अग्नि मीड़े पुरोहितम यज्ञ देव मृत्युजम होतारम धातम मंत्र बोलते हैं जोर जोर से याद भी उनको और बाहर आकर के सिगरेट पीते हैं देखिए मैंने ऐसे पंडितों को देखा मांस खाने वालों को देखा वेद मंत्र पंडित बने हुए मालाएं पहनी हुई चोटी लगी है लाल नीले पीले वस्त्र पहनते हैं मांस खाते हैं शराब पीते हैं पता नहीं क्या क्या कुकर्म करते हैं वो एक उनका एक व्यवसाय सा बन गया सारे नहीं होते लेकिन देखने में आया कहने का मतलब है संस्कृत एक भाषा है साहित्य इतिहास आदि जो हमारी प्राचीन परंपराएं हैं इनको पढ़कर के भी मैंने आपको प्रातःकाल संकेत किया फिर मैं कहता हूं वेद पर्यंत पढ़कर के भी जो अध्यात्म विद्या को नहीं जानता है अर्थात ईश्वर को आत्मा परमात्मा को नहीं जानता है वह व्यक्ति जो संस्कृत भाषा नहीं जानते हैं या अंग्रेजी जानते हैं या और कोई भाषाओं जानते हैं या नास्तिक भी है जो उल्टे काम करते हैं वैसा ही कर सकता है चांस कम होते हैं ये तो बात निश्चित है नहीं कर सकता है वो यदि अध्यात्म विद्या ना पढ़े ना उसको महत्व दे जो जो दर्शनों में उपनिषद में वेदों में आई हुई है न उसके महत्व को समझाए नहीं समझ में ना आए उसको प्रयोग में ना लाए तो। हमने यहां आकर के ध्यान देना मेरी बात को यहां आकर के समझा अध्यात्म मार्ग क्या है सुना समझा जाना विचारा निर्णय किया चलने का प्रयास किया हमने इससे पहले कुछ नहीं था इसलिए इस अध्यात्म मार्ग को जानने के लिए और विशेषकर अपनी आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए व्यक्ति को आत्मक्षण करना बहुत बहुत बहुत बहुत आवश्यक है मैंने आपको भी संकेत किया हम पापों से अधर्मों से क्लेशों से युक्त रहते ही हैं हर समय रहते हैं दोषों को स्वीकार नहीं करते हम त्रुटियों को कमियों को स्वीकार नहीं करते हैं प्राय देखने में आता है जबकि आध्यात्मिक मार्ग बिल्कुल उल्टा है आध्यात्मिक मार्ग के अंदर व्यक्ति स्वयं तो अपना निरीक्षण प्रेक्षण करता ही है त्रुटियां कमियों को निकालता है दूसरा कोई बताता है तो बड़ी प्रसन्नता से स्वीकार करता है उसका धन्यवाद करता है और आगे चलिए योग्य योग्य गुरु कहो या योग्य व्यक्ति को उससे जाकर के पूछता है मेरी गलतियां बताओ मेरी त्रुटियां बताओ मेरे दोस्तों को बताओ उनका धन्यवाद करता है उसके प्रति आभार व्यक्त करता है कृतज्ञता प्रकट करता है और अन्यथा व्यक्ति जीवन पर्यंत इन शास्त्रों को दर्शनों को पढ़ता रहता है ईश्वर को नहीं जान पाता योगाभ्यास नहीं कर पाता है और कुछ नहीं होता देखो लिखा यस्तन्न वेद तिमरिचा करिष्यति उसकी स्थिति नारद की तरह होती है भगवान हम सोचा भी मैंने वेद दर्शन उपनिषद जब जितने भी आध्यात्मिक ग्रंथ पता नहीं बारह पंद्रह अठारह ग्रंथों को बताया इतने ग्रंथों का अध्ययन किया वेद पर्यंत भी हम सोचा नहीं अनात्मवित्त आत्मज्ञानम ना आसीत तस्य पार्श्वे अतएव सोचती स्म एवं अस्माकम अवस्था वर्तते वयम मनसी एवं मन्य माना वह प्रसन्न आध्यात्मिका ब्रह्मचार्य न वयम किंतु सूक्ष्म दृष्टा या परीक्षण भवती निश्चित रूपेण एक एव परिणाम समक्ष आगछती पापी न वयम पाप अर्थात दुष्ट कर्म आप अनुभव करेंगे पुण्य पुण्य कार्य भी जिसको हम श्रेष्ठ कर्म कहते हैं पुण्य कर्म कहते हैं उसमें भी पापवृत्तियां होती है उदाहरण के लिए यज्ञ करना है दान देना है सेवा करनी है परोपकार करना है प्रवचन देना है पढ़ाना है ये पुण्य कार्य सारे है ना इनमें भी व्यक्ति ईश्वरपण दान से युक्त नहीं है निष्काम नहीं है अध्यात्म ज्ञान विज्ञान को जानता नहीं है वो इन पवित्र इन शुद्ध इन पुण्य कार्यों को करते हुए भी क्लेश युक्त रहता है आप अनुभव करेंगे हम तो करते हैं आप भी करेंगे किया होगा तो करेंगे आगे इस धार्मिक आध्यात्मिक सामाजिक परोपकारी क्षेत्र में व्यक्ति प्रतिस्पर्धा की भावना अपने आप को बड़ा दिखाने की भावना उनके मन में बनी रहती है आप देखेंगे मंचों पे प्राय देखने में आता है व्यक्ति का विचार होता है सबसे अंतिम व्याख्यान मेरा हो देखा ना आपने क्यों वो विचार करता है कि आगे बोलेंगे और पीछे तो आएगा हमारा सफाया हो जाएगा कोई महत्व रहेगा ही नहीं हमारा हमारी परंपरा बिल्कुल विपरीत है हमने प्रयोग किया मैं तो अभी भी करता रहता हूं सबसे पहले प्रवचन करना बाद में लोगों के प्रवचन कोई भी शिविर हो हम यहां पर भी यहां पर भी बाहर भी देश विदेश के अंदर पहले प्रवचन मेरा कराओ यदि हमारे प्रवचन में ज्ञान विज्ञान है प्रभावशाली तत्व है कुछ कुछ व्यक्ति उससे विशेष सीखता है सुनता है जानता है प्रभावित होता है तो सीख जाएगा दूसरे का भले बाद में करो आगे करो कोई महत्व मतलब नहीं फिर प्रवचन का प्रभाव तो रहता है थोड़े काल का व्यवहार का प्रभाव दिन भर का रहता है यज्ञ के विषय में आप देखेंगे समाजों के अंदर यज्ञ कर रहे हैं लेकिन व्यक्ति अधिकार की भावना रखता है मैं बैठूंगा आज आप देखेंगे कि कौन ये समय हो गया जी अभी प्रधान जी नहीं आए अभी मंत्री जी नहीं आए हमारे वो शेठ जी नहीं आए हमारे वो यजमान नहीं आया वो नहीं आया समय हो गया और किसी को बैठा दिया तो यहां तक कि देखा गया है कि उसको उठा देते हैं ये क्या है ये जगह मतलब त्याग वो त्याग नहीं कर रहा अधिकार की भावना रखते मैं करूंगा मेरा अधिकार है या अधिकार की भावना करता है कार्य दान देता है व्यक्ति दान देने के बाद में अभिमान की भावना बढ़ती है सेवा में भी परोपकार में भी सहयोग में भी किसी भी कार्य में देखेंगे आप ये ऐसे विषय हैं जो सूक्ष्मता से पकड़ता है व्यक्ति तो पकड़ में आते नहीं आते जैसे मैंने बताया सूक्ष्म बुद्धि होती है तो पकड़ में आते नहीं तो आते नहीं लेकिन ये सूक्ष्म बुद्धि भी इस आत्मिक के माध्यम से बनाई जा सकती है प्राय व्यक्ति देखने में आया आपने सुना होगा सुनते होंगे आपके यहीं से गरीब आचार्य हैं नहीं पकड़ पाता अपने कमियों को पकड़ता नहीं है पकड़ता है स्वीकार नहीं करता स्वीकार करता है तो हानिकारक नहीं मानता है हानिकारक मान लेता है उसको निवारण करने का प्रयास नहीं करता है प्रतिज्ञा नहीं करता है संकल्प नहीं करता है तपस्या नहीं करता है दृढ़ता पूर्वक इसको निकाल लेते हैं परिणाम यह निकल, निकलता है कि जो त्रुटियां हमारे जीवन में 20 वर्ष पहले थी 10 वर्ष पहले थी आज यूं क्यों बनी रहती है वही चीजें वही लोग वही ईर्षा वही छल कपट वही झूठ वो अन्याय वही पक्षपात आत्मनिक्षण के माध्यम से हम अपने जीवन की का निरीक्षण परीक्षण करके प्रगति को पता लगा सकते हैं सरलता से जो प्राय व्यक्ति पता लगा ही नहीं पाता न उसको पकड़ में आती उदाहरण के लिए आज व्यक्ति ने विचार किया आत्मरक्षण और निर्ध्यासन ये दो विषय हैं ये मैं आपको बताऊंगा कि शायद मैंने सुना नहीं ऐसा हो सकता है इतिहास में हो लेकिन मेरे को इतिहास में पकड़ में नहीं आया समाज के बाद में भी गुरुकुलों में भी कि किसी गुरुकुल के अंदर आत्मनिरीक्षण की कक्षा होती हो और भी भक्ति होगी सुना नहीं हमने और निरिध्यासन के लिए समय होता हो पंद्रह मिनट बीस मिनट का जिसमें व्यक्ति विचार करे तो कहां जा रहा है क्या कर रहा है क्या करना चाहिए क्या त्रुटियां हो रही है क्या भूलें हो रही है कारण क्या है व्यक्ति विचार नहीं करता परिणाम निकलता है वो सब कुछ काम चलते रहते हैं व्याकरण भी पढ़ लेता है दर्शन भी पढ़ लेता है उपनिषद भी पढ़ लेता है सब कुछ पढ़ लेता है और लेकिन उनको बंद कर दो जी वो फिर आएगा दोबारा मैं अपने जीवन के अनुभव की बातें बताता हूं आपको दुष्ट से दुष्ट मनुष्य जिसके जीवन में प्रत्येक दिन झूठ छल कपट अन्याय पक्षपात जितनी बुराइयां हैं सबसे वो गिरा हुआ है उसमें निमज्जित है यदि व्यक्ति संकल्प कर ले मुझे दूर करनी है तो शीघ्र तत्काल दूर कर सकता है और बुराइयां जब दूर जाती है तो और क्षेत्रों में बहुत अधिक अच्छी उन्नति होती है अध्ययन हो योगाभ्यास हो परोपकार हो सेवा हो लेखन हो प्रवचन हो अध्यापन हो कोई भी क्षेत्र जब तक मन के अंदर दोष से युक्त व्यक्ति रहता है तब तक प्रगति नहीं कर पाता है क्योंकि वो राग देश रमोश को जकड़े रहते हैं अशांत बनाए रखते हैं यह अनुभव करेंगे आप यदि इस आत्मरक्षण के सूक्ष्म विषय को हम जान लें तो कम से कम इस आध्यात्म मार्ग के हम अधिकारी बन जाते हैं हम ईश्वर के सामने अपने दोषों को रखने में झिझकते हैं थोड़ा भय प्रतीति होती है आप देखेंगे लोग के अंदर व्यक्ति आंख बंद करना नहीं चाहता है जब तक थक जाएगा चूर नहीं होगा तब तक वो सो सोए नींद नहीं आएगी तब वो आंख बंद करेगा नहीं और ये आत्मिक्षण का विषय ऐसा है जागते हुए दिन के समय में आंख बंद करके अपने जीवन को टटोलना देखना कि क्या स्थिति है व्यक्तियों को क्यों नहीं आत्मरक्षण करते हैं आंख बंद क्यों नहीं करते भय लगता है उनको ध्यान देना जिन व्यक्तियों ने पाप किए हैं धर्म किए हैं पाप वृत्ति से युक्त हैं झूठ छल कपट न्याय से युक्त हैं उनको जब आंख बंद करते हैं या रुकते हैं कहीं मौन होते हैं गंभीर होते हैं उनको भय लगता है वो अपने दोषों को देख नहीं पाते वो कहते चलने दो चलने दो बस चलने दो और जो व्यक्ति रुकेगा नहीं आंख बंद करेगा नहीं अपने जीवन का निरीक्षण परीक्षण करेगा नहीं वो ऐसे ही अपने जीवन को निस्सार सा कहो दोषों से युक्त को बनाए रखेगा स्थिति बनती व्यक्ति की इसलिए यदि शीघ्रता से अपने जीवन का निर्माण करना है तो व्यक्ति को एकांत स्थान में बैठ करके बोले दस मिनट के लिए सही देखना चाहिए जो अपने आप को ठीक प्रकार से देखता नहीं है उन्हें जीवन का विकास नहीं कर पाता उन्नति का पता चलेगा ही नहीं लौकिक व्यक्ति जैसे हिसाब लगाता आज कितना विक्रय हुआ है कितना माल आया कितना गया कितना लाभ हुआ ऐसे ही आध्यात्मिक आदमी अपने जीवन का निरीक्षण परीक्षण करके पता लगाता है कि उन्नति क्या हुई कल मैंने कितनी झूठ बोली उदाहरण के लिए कल मैंने कितनी झूठ बोली परसों कितनी बोली थी आज कितनी बोली कल मैंने कितनी बार देश किया आज कितनी बार देश किया ऐसे इसी प्रकार आलस्य प्रमाद के विषय में अकर्मण्यता के विषय में ध्यान देना आप अनुभव करेंगे मैं अपने विषय में बताता हूं मैं दिन में चौदह घंटे कम से कम बारह घंटे तेरह घंटे सामान्य है बारह तेरह चौदह घंटे में काम करता हूं विद्यालय का हो आश्रम का हो लेखन का हो अध्यापन का हो निरीक्षण का हो परीक्षण का हो चौदह घंटे चार घंटे मेरे मेरे व्यक्तिगत कार्यों में जाते हैं फिर भी मैं अनुभव करता हूं अपनी योग्यता का बहुत बड़ा भाग जो है उपयोग में नहीं आ रहा है अथवा गौण कार्यों में जाता है अथवा इतनी योग्यता नहीं है अथवा इतना अनुभव नहीं है आप आत्मविश्लेषण करेंगे आपको प्रतीति हो जाएगी कि अब तक जो मैंने उन्नति की है अध्ययन के दृष्टिकोण से किसी दृष्टिकोण से स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से वो मैं जो मैंने दस वर्ष लगाए हैं छह वर्ष लगाए आठ वर्ष लगाए वो बहुत कम काल में कर सकता था बहुत कम काल में आध्यात्मिक विषय विशेषकर व्यायाम के विषय में ले लीजिए आप हम आत्मिक्षण नहीं करेंगे तो हमारे को प्रतीति होगी नहीं कि हम कितने अनुशासित हैं व्यायाम के दृष्टिकोण से देखेंगे कि व्यायाम कितना लगाना है कितना मैंने किया है स्वास्थ्य का कितना मेरा वजन बढ़ा आप देखें ना आजकल लोगों में आपको कम नॉलेज है विदेशों में तो स्थिति यही है रोजाना अपना वेट करते हैं बल्कि कई जगह देखा गया सुबह भी करते हैं और सायकाल भी करते हैं <laughs> भोजन करके भी करते हैं भोजन शौच जा करके भी करते हैं शौचालय में सबके वेट है वो बैलेंस क्या कहते हैं उसको तुला विदेशों में अमेरिकन कंट्रीज में यूरोप कंट्रीज में आप देखेंगे सबके बाथरूम के अंदर वो तकड़ी रखी है तुला रखी है वो तुलेंगे सुबह उठ के तुलेंगे दोपहर में तुलेंगे सायकाल तुलेंगे स्थिति उन लोगों की खा के तुलेंगे पी के तुलेंगे पेशाब करके तुलेंगे शौच जाके तुलेंगे ऐसी स्थिति उनकी होती है व्यापारी हिसाब रखता ना ऐसे ही आध्यात्मिक व्यक्ति को अपना हिसाब रखना चाहिए कितनी त्रुटियां हुई आज मेरी ऐसे अध्ययन के विषय में कितना स्मरण किया मैंने कितना ईश्वर का ध्यान किया आध्यात्मिक क्षेत्र में जाइए मैंने एक घंटे में कितनी वृत्तियां उठाई और कितने काल के लिए उठाई इसका भी हिसाब होता है यदि हिसाब नहीं करते हैं तो हम एक वर्ष नहीं दस वर्ष नहीं पचास वर्ष तक वृत्तियां उठाते रहेंगे उठाते रहेंगे उठाते रहेंगे उठाते रहेंगे कमी आएगी नहीं और प्रतीति होगी आज मैंने पचास वृत्तियां उठाई कल्पना कीजिए तो कल मैं और कल मैं नहीं उठाऊंगा मैं नहीं उठाऊंगा कि तो प्रतिज्ञा करनी चाहिए तो पचास की जगह वो चालीस उठेंगी उठा पाएंगे हम ध्यान देंगे सतर्क होंगे कल और कम करूंगा मैं या पूरी कुछ नहीं उठाऊंगा मैं तो फिर तीस होगी बीस होगी दस होगी पांच होगी आगे चल के ऐसी स्थिति आती है कि पूरे घंटे भर तक हम ईश्वर कोई जप है या कोई चिंतन है या ईश्वर प्रधान है या कोई भी ऐसी स्थिति है कोई बाह्य वृत्ति नहीं उठाते हैं जो हमारी इच्छा के विरुद्ध हो कोई चिंतन नहीं करते ऐसी स्थिति बन जाती है द्वेष के विषय में भी आप अनुभव करेंगे द्वेश को पकड़ने पकड़ना आना चाहिए पहले द्वेश उत्पन्न होता है कि नहीं होता है राग उत्पन्न होता है कि नहीं होता है क्रोध उत्पन्न होता है नहीं होता है ईर्ष्या होती नहीं होती आलस्य प्रमाद आता है कि नहीं आता है ये पकड़ेंगे तो फिर कमी होगी पकड़ नहीं पाएंगे तो कमी क्या होगी ये मुख्य विषय है अध्यात्म का विषय ये मुख्य है यदि इस आत्मिक्षण के विषय को आप मैं समझता हूं इस आध्यात्मिक क्षेत्र के अंदर ये जो आत्मिक्षण एक विशेष विद्या है या प्रयोग है या एक ऐसा कला है एक शैली है जिसके माध्यम से व्यक्ति शीघ्र से शीघ्र अपने जीवन का निर्माण कर सकता है कोई प्रयोग करे तो यहां तक कि मन में कभी भी किसी के प्रति भी देश भावना उत्पन्न नहीं होगी क्रोध नहीं होगा ईर्षा नहीं होगी स्वार्थी नहीं बनेगा आलसी नहीं बनेगा प्रमादी नहीं बनेगा अहंकारी नहीं बनेगा ये हो सकता है और यही उन्नति है ध्यान देना मेरे मेरे विचारों का उल्टा अर्थ नहीं लगाना है ईश्वर हमारे अंतकरण को देखता है अर्थात हमारी आत्मा को देखता है ईश्वर वस्त्रों को नहीं देखता है देखने का मतलब गौण मानता है उसको देखता था तो वो वस्त्र भी देखता है चमड़ी देखता है मांस देखता है बल देखता है विद्या देखता है प्रतिष्ठा सब कुछ देखता है लेकिन ईश्वर के दृष्टिकोण से महत्व किसका है आत्मा का है आत्मा की पवित्रता का है आत्मा की उन्नति का है आत्मिक ज्ञान विज्ञान का है कि इस व्यक्ति की आत्मा कितनी पवित्र है कितना स्वस्थ है ये कितना निष्काम है ये कितना निश्चल है ये कितना सत्यवादी है ये कितना परोपकारी है कितना त्यागी है कितने तपस्या है इन चीजों को देखता रहता है इसका अधिक महत्व है इसीलिए जो है आध्यात्मिक क्षेत्र के अंदर जो आया है उपनिषद में कि हम देवयान को अपनाएं श्रेय मार्ग को अपनाएं या पीति को पीत ये पूर्णानंद की प्राप्ति वाले मार्ग को अपनाएं योग मार्ग को अपनाएं अध्यात्म को अपनाएं पहले हमें इन शास्त्रों का अध्ययन करते करते करते करते करना तो छोड़ना नहीं है लेकिन इन विषयों पर गहन चिंतन भी करना हमको आखिर ये है क्या धाम यानी ने लंगोट पहन लिया है कटी वस्त्र पहन लिया है ये बाल कटा लिए हैं और ये ये लिजा, लिजाएगा कहा हमको ये इससे करना क्या है इससे क्या होना है और लोगों का भी क्या लाभ है अब लोग क्या कहते हैं आप अनुभव करेंगे जिसको उत्तर देना नहीं आता है वो भी निरुक्त हो जाएगा कटी वस्त्र के मुच्छे में क्या लाभ है इसके क्यों नहीं पेंट पहनते आप चोला क्यों नहीं पहनते थे लंगोट क्यों पहनते आप ये चोटी क्यों रखी है ये चार बजे क्यों उठते हैं ये ज्यादा भोजन क्यों करते हैं बिना नमक का ये इतने मितव्य क्यों है आप नाश्ते गाते क्यों नहीं है पता नहीं क्या प्रश्न करते हैं आपको सामने भी संसार आने वाला है जाएंगे यदि देश में भी घूमेंगे प्रचार करेंगे पचासों प्रकार के प्रश्न आते हैं और आजकल तो ऐसी स्थिति आ गई है बिल्कुल विपरीत बातें ब्रह्मचर्य के विषय में हमारे वेद दर्शन उपनिषद आयुर्वेद सब भरा पड़ा है ब्रह्मचर्य से और आजकल सारे संसार के अंदर ब्रह्मचर्य की विपरीत बातें लिखी जा रही है बिल्कुल विपरीत शीर्षासन हो गया यदि हमारे पास में ऋषियों के मंतव्यों को सिद्धांतों को ठीक प्रकार से उनका प्रतिपादन करने के लिए प्रामाणिकता उसकी उपयोगिता उसके लाभ और परिणामों का ठीक प्रकार उचित उनका उत्तर नहीं है हम निरुत्तर जाएंगे स्वयं निराश हताश हो जाएंगे ऐसी स्थिति हमारे सामने आती है ध्यान देने की बात हम जिस मार्ग पर चल रहे हैं जो हमारी शैली है जो हमारा लक्ष्य है जो हमारा विधि विधान है जो हमारे सिद्धांत है उनके विषय में हमारा लाभ अच्छा नहीं है हम उसके विषय में युक्ति प्रमाण तर्क से उनके आक्षेपों का ठीक पर का उत्तर दे पाते हैं तो परिणाम में निकलेगा हम नृत्य जाएंगे निराश हताश जाएंगे स्वयं छोड़ देंगे उनको इस आध्यात्मिक मार्ग के विषय में एक एक चीज को जानना जरूरी है बिना जाने तो पाखंड बन जाता है एक सिद्धांत है कोई भी धर्म हो अध्यात्म हो जो प्रमाणों की कसौटी में ठीक नहीं उतरता है जिसके परिणाम प्रभाव ठीक प्रकार से नहीं आते हैं या बता नहीं सकते हम ठीक विधि विधान नहीं है व्यवस्थित रूप में वो पाखंड बन जाता है चमत्कार के रूप में दिन चमत्कार वो दिखाई देते हैं वो पाखंड है ब्रह्मचर्य का कोई भी विषय हो जल्दी उठना है दंड बैठक लगाना है लंगोट पहनना है या सात्विक भोजन करना है बाल कटाने हैं चोटी रखना है जल्दी उठना है गर्मी सर्दी सहन करना है स्वाध्याय करना आत्मक्षण करना यज्ञ करना उपासना करना प्राणायाम करना आज जितने भी विषय हमारे इनके विषय में युक्ति प्रमाण से युक्त हमारे पास में तर्क से युक्त हमारे पास में उत्तर होने चाहिए उत्तर नहीं होंगे हम तो बहुत पूछते थे बहुत पूछते थे हम अपने गुरुओं से यहां भी स्वामी जी महाराज से बहुत पूछते थे हम और यहां भी हम चर्चा किया करते थे हमारे आचार्य सब्जी जी थे और सुमेर प्रसाद जी थे और भी बहुत थे हम सभाएं किया करते थे आज यज्ञ के विषय में विचार करेंगे आज आत्मा के विषय में प्रश्न उठाएंगे आज पुनर्जन्म के विषय में प्रश्न उठाएंगे इस प्रकार आप भी ये कार्य किया करें यदि आपने अपना लक्ष्य ऊंचा नहीं बनाया ध्यान देना तो परिणाम यह निकलेगा ये छोटी मोटी चीजें आपको प्रभावित करेंगी राग देश ईर्षा छल कपट संसार चीजें प्रभावित करेंगी और आप खो जाएंगे इनमें राग देश युक्त होकर के समय नष्ट कर देंगे मैं आपको उदाहरण दिया फिर मैं बताता हूं कि बारह वर्ष तो नष्ट किए ही उसके बाद भी समय नष्ट करता रहा आज भी यह अनुभूति होती है कि अनेक बार गौण कार्यों के अंदर समय लग जाता है शक्ति लग जाती है बल लगता है होता ही और जो दिन भर व्यर्थ के कार्यों में अनुपादेय कार्यों में लगा रहता है रोजाना रोजाना निरीक्षण करे अठारह घंटे का समय है कितनी उपयोगिता हुई स्मरण कितना किया मैंने पढ़ा कितना आत्मचिंतन कितना किया जिनको पवित्र कितना बनाया एक एक दिन परीक्षण करके देखेंगे तो प्रतीति होगी नहीं तो जीवन चला जाएगा चला जाएगा आपकी तरह ही मैं निकला था चौबीस वर्ष की अवस्था में आज इकसठ वर्ष हो गए चला गया जीवन अब वो आने वाला नहीं है आज मैं अनुभव कर रहा हूं कि 35 वर्षों में जो प्राप्त किया है वह ज्ञान विज्ञान अच्छे गुरु जो ये पहले मिल जाते हमको बारह वर्ष पहले और अच्छे साधन मिलते अच्छा अवसर मिलता तो हम जो हमने इतने वर्षों में किया है बहुत कम वर्षों में प्राप्त कर सकते थे कुछ हमारे हाथ में कुछ दूसरों के हाथ में लेकिन हमारे हाथ में जो है उसका तो हम उपयोग सही प्रकार से कर सकते हैं लेकिन जो दूसरों के हाथ में परिस्थिति वसात हमें कुछ कार्य से करने पड़ते हैं जो हमें हमारे हाथ में नहीं है उनका समायोजन करना पड़ता है इसलिए वहां समय लगता है शक्ति लगती है बल लगता है इसलिए आत्मिक्षण के माध्यम से आप नित्य प्रति ये अनुभव करते रहें कि कल क्या था आज क्या हो गया हूं आगे मुझे क्या होना है मेरा ऐसा मानना है जैसा ऋषियों ने कहा है मेरा क्या मानना है न काल नियमो वाम देवत जरा जगह और प्रकार क्या है जैसे लंबे काल तक व्यक्ति का पतन होता है बहुत लंबे काल तक कल्पना कीजिए किसी ने दस वर्ष बीस वर्ष तीस वर्ष चालीस वर्ष तक किसी कुवेशन में कुटेव में युक्त रहा अब क्या उसको वापस सुधार करने के लिए इतना समय लगेगा ऐसा नहीं है बहुत कम समय में संकल्प हो प्रतिज्ञा हो सतर्क सावधान हो और व्यक्ति ईश्वर पर ध्यान से तो होकर के और पुरुषार्थ के साथ में तपस्या के साथ में जो 10, 20, 30, 40 वर्ष तक उसने अपना जीवन बर्बाद किया या कुछ भी कुसंस्कार बनाए कुटेव बनाए कुसंसिक्त रहा वो बहुत कम समय में सुधार कर सकता है उदाहरण देखना है स्वामी सिद्धांत जी का देखिए उनकी जीने को पढ़िए आप शायद ही कोई अवगुण होगा जो उनमें ना हो लेकिन जब सानिध्य हुआ अच्छा ज्ञान विज्ञान की प्राप्ति हुई चिंतन किया निर्ध्यासन किया आत्मक्षण किया तो प्रतीति हुई कि मेरा जीवन खराब है तत्काल महात्मा बन गए ऐसे ही हम भी ऐसे बन सकते हैं मन में एक भावना होनी चाहिए मुझे बनना है एक बड़ी भ्रांति दिमाग में बैठी हुई है आपके साथ ना हो कि स्वामी ज्ञान के विषय में खूब खुल खुल के बोलते हैं आजकल तो पता नहीं और भी कुछ बोलते थे न भूतो न भविष्य न हुआ न होगा ये मिथ्या धारणा है हम बन सकते हैं स्वामी दयानंद हम कपिल कनाथ गौतम बन सकते हैं संकल्प होना चाहिए व्यक्ति का हम ऋषि बन सकते हैं योगी बन सकते हैं आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं इसी जन्म में कर सकते हैं बहुत कम काल में कर सकते हैं अब रही बात हमारा कितना सामर्थ्य है कितना संस्कार है कितना हमारा पुरुषार्थ है कितना हमारे पास साधन है कितना हमारे पास वातावरण है कितनी प्रकार की सुविधाएं हैं कितना पुरुषार्थ करते हैं तपस्या करते हैं ये भी और अवान्तर जो चीजें काम करती है लेकिन हम चाहें और हमको अनुकूलता मिल जाए तो हम भी कर सकते हैं क्योंकि आधी मुक्ति हुई हुई है तथा कल बताया मैंने आपको घर छोड़ने के बाद आधी मुक्ति इतने बंधन प्राप्त नहीं हमारे इसलिए इन कार्यों को शीघ्रता से शीघ्र कर सकते हैं संकल्प की देरी है बिल्कुल संकल्प आज हम कर लें कि कल मुझे दिन भर में एक भी झूठ नहीं बोलनी है कल मुझे किसी से द्वेष नहीं करना है कल मुझे कोई अपशब्द नहीं बोलना है कल मुझे किसी से राग नहीं करना है कल मुझे अपने वाणी के ऊपर नियंत्रण रखना है कल मुझे इतना स्मरण करना है इतना मुझे स्वाध्याय करना है उदाहरण दे रहा हूं आपको मैं तपोनाश में रहता था तो उस समय एक बार संकल्प किया कि मुझे तीन दिन के अंदर रेगुलरी भाषण का सॉरी यहाँ वान प्रसाद का आश्रम रहता था मैं निरुक्त पढ़ता था मैं राम प्रसाद जी से तो कहीं बाहर चले गए थे तो संकल्प क्या करता था ना कि मुझे मैं तीन दिन के अंदर ऋगदारी भाषण का पूरी पढ़ लूंगा मैं संस्कृत भाष्य अपने दिनचर्या उपासना ध्यान यज्ञ जो भी वहां क्रियाकलाप होते थे सारे किए और तीन दिन में सारी पढ़ ली मैंने हो सकता है कार्य हम जिन कार्यों को बहुत बड़ा मान लेते हैं उसके पीछे कारण आलस्य होता है अनभ्यास होता है संकल्प कर लें आप सुनते हैं ना गुरुदत्त के विषय में पता नहीं और कौन कौन आते हैं वो शीघ्र से शीघ्र पाठ स्मरण कर लिया करते थे आदि आदि तो हम आत्मिक्षण करके अपने जीवन को शीघ्र से शीघ्र उन्नत करने का प्रयास करें और ध्यान देने की बात है कि फिर बताता हूं आपको अपने जीवन का निर्माण अपने हाथ में है कोई भी आचार्य किसी को किसी प्याले के अंदर या कटोरी में कोई विद्या को घोल करके पिलाने देता है जैसा सुना ना आपने वो कौन थे जो शंख बजा करके उसको क्या था वो ध्रुव ध्रुव पुराणों में पढ़ा होगा आपने वो तपस्या कर रहा था और विष्णु आए पता नहीं कौन आए उन्होंने कहा फूक इस शंख को वो फूका और चारों विद्रों का विद्वान बन गया ऐसा नहीं होता कितना ही बड़ा आचार्य हो स्वामी ध्यान भी क्यों ना आ जाए हमारा पुरुषार्थ हमारे संस्कार हमारा हमारी लगन हमारा संकल्प हमारी सावधानी ये काम करेगी संस्कारों का बड़ा महत्व है जिसके पूर्वजन्म के संस्कार उसके पास अपनी संपत्ति बैलेंस है इस जन्म जिसका सबका समानता नहीं होती है इसका बड़ा प्रभाव पड़ता है लेकिन फिर भी इस जन्म में भी संस्कार कम भी हैं तो व्यक्ति पुरुषार्थ करके बहुत कुछ कर सकता है कम से कम अपने स्तर को ऐसे स्तर पे ले आता है जहां पर कि बहुत बड़ा भेद न रहे हम इसके लिए प्रयास करें और हमने ये सीखा है चाहे हम बहुत अधिक पढ़ ना पाए चाहे हम बहुत अधिक लिख ना पाए बहुत अधिक प्रवक्ता ना बने बहुत अधिक कोई बड़े प्रतिष्ठित ना बने लेकिन कम से कम ऐसे बन जाएं कि अपने चित्त को सांसारिक प्रलोभनों से रहित कम कर दें ऐसा हमको सताए नहीं राग बेस्मों को सताए नहीं क्लिशित ना हो हम पवित्र जीवन व्यतीत कर सके चाहे हम संसार का भला ना कर सके कोई बात नहीं लेकिन अपने जीवन को कम से कम कलुषित ना करें निम्न स्तर पर ना लाएं इतना तो कम से कम होना चाहिए ये निश्चित बात है जीवन में आचार का बड़ा क्षेत्र है आचार का बड़ा महत्व है सारी विद्या पढ़ते पढ़ाते हैं उनका एक ही परिणाम है आचार आचार परमो धर्म ये आया ना वेद भी आचार्य इनको पवित्र नहीं करते हैं तो विद्या को पढ़ते पढ़ाते लिखते लिखाते सुनते सुनाते सेवा परोपकार के कार्यों को करते हुए हम अपने जीवन को पवित्र और सात्विक बनाए रखें दुखी ना हो कितनी प्रतिकूल परिस्थितियां क्यों ना हो हमने मेरे मित्र रहे बड़े अच्छे और भी गुरु रहे बहुत सीखे हम लिखें एक सिद्धांत हमने सीखा कि किसी भी दूसरे व्यक्ति के किसी भी क्रिया को देख करके कभी दुखी ना हो गाली निकाले अपशब्द निकाले निंदा करे चुगली करे हाँ ये तो देखना चाहिए ये कोई दोष बता रहा है वास्तव में अच्छा तो सत्य तो नहीं है सुधार करना चाहिए लेकिन मिथ्यारोप लगाते हैं आक्षेप करते हैं निंदा करते हैं चुगली करते हैं दुखी नहीं होना ये भी आध्यात्मिक क्षेत्र में संकल्प करने पे होता है नहीं तो नहीं होता आप देखेंगे अनेक बार कि कोई दूसरा व्यक्ति ने किसी को कुछ कह दिया और दुखी हो जाता है आध्यात्मिक काल में दुखी नहीं होता है कभी दुखी नहीं होना चाहिए मन में संकल्प करें हाँ एक व्यक्ति पीटे किसी की पिटाई करे लाठी मारे सिर्फ फोड़ दे एक अलग बात है हमारा मतलब दुख होना ही है लेकिन कोई वाणी से और दूसरे प्रकार के व्यवहार से कुछ भी करे अपने स्तर को खोना नहीं चाहिए अपने साथी स्तर को खोना नहीं चाहिए अपना स्तर गिरा दिया इसका मतलब उसका तो पता नहीं पतन तो हुआ वही है जो हमको अब सब निकाल रहा है आरोप लगा रहा है मिथ्यारोप लगा रहा है झूठ छल कपट कर रहा है निंदा कर रहा है चुगली कर रहा है उसका तो गिरा ही हुआ है उसके गिरे हुए स्तर से हम प्रभावित होकर के परिणाम प्रभाव से हम दुखी हो जाएं अपने स्तर को गिरा लें इसका मतलब हमारा पतन हो गया ऐसे पतन की स्थिति हमारी नहीं होनी चाहिए इतना अपने आप को दृढ़ बनाना चाहिए और अंत में ये कहूंगा मैं आत्मिक्षण करके इस जिस मार्ग में आप चले हैं ये कहा ले जाएगा इसका मार्ग कौन सा है इसमें साधन कौन से चाहिए क्या शैली अपनानी पड़ती है बाधाएं क्या है इन सारी बातों को आप निरीक्षण परीक्षण करें फिर आप चलें यदि आप इस मार्ग को अंधाधुंध चलते रहेंगे भेड़ चाल की तरह तो परिणाम यह निकलेगा न यही लोग न परलोक बार में जाके दुखी होता है व्यक्ति देखे मैंने बहुत से व्यक्ति जो लौट करके आते हैं न आध्यात्मिक जीवन उनको प्राप्त होता है न लौकिक बन पाते हैं वो बीच में लटक जाते हैं इसलिए बहुत निरीक्षण करके इस मार्ग को समझने का प्रयास करें लेकिन ईश्वर समर्पण हो जाए और श्रद्धा के साथ में व्यक्ति कार्य करता रहे तो व्यक्ति की प्रगति निश्चित है परिणाम अच्छे आते हैं तपस्या तो करनी पड़ती है लेकिन परिणाम अच्छे आते हैं पहले लंबे काल तक मैं तो कहता हूं प्राय अभी मैं कहता हूं आपको भी कहता हूं मैं हमारे गुरु जी हमको कहते थे कि पंद्रह वर्ष तक आपको देखेंगे इस कटिवस्त्र में चदर में इस चोटी में लंगोट में और इस ब्रह्मचर्य के काल में पंद्रह वर्ष तक देखेंगे तो प्रतीति होगी हाँ अब आगे चल पड़ेगा पंद्रह वर्ष तक प्राय व्यक्ति डगमगा जाता है जब बाल सफेद जाते हैं बूढ़े हो जाता है व्यक्ति फिर इस मार्ग में लगा रहेगा वो कह रहे अब तो कोई मार्ग है नहीं पीछे जाने के लिए तो कम से कम श्रद्धा पूर्वक चलते रहे ज्ञान पूर्वक विवेक पूर्वक चिंतन पूर्वक विवेचना पूर्वक अन्वेषण पूर्वक चलते रहेंगे खोज करते रहेंगे तो आगे मार्ग प्रशस्त तो है आगे आनंद ही आनंद है और बीच में लटक गए तो जैसे मैं देखता हूं आप भी देखेंगे न केवल ब्रह्मचारी न केवल आचार्य न केवल उपदेशक न केवल लेखक न केवल सन्यासी बड़े बड़े योगी हम्म, भी अपने आप को जो कहने वाले व्यक्ति हैं वो दुखी देखे गए हैं चिंतित देखे गए हैं पथभ्रष्ट देखे गए हैं या हम्म, खिन्न देखे गए हैं उनमें जीवन में आनंद और संतोष तृप्ति द्रिविता निष्कामता आदि नहीं प्रती होती वो दुखी रहते हैं ऐसे जीवन को नहीं बनाना इस मार्ग को चुन लिया है तो इस मार्ग की वास्तविकता को यथार्थ रूपता को समझ करके फिर हम चलें तो निश्चित रूप से आनंद ही आनंद है तो ये मैंने कुछ बातें आपको बताई आत्मनिरीक्षण के विषय में आपको आचार्य जी अपने बताते रहते होंगे कुछ बातें मेरे मस्तिष्क में अभी आई मैंने आपको बताने का प्रयास किया जीवन को आत्मनिरीक्षण के माध्यम से श्रेष्ठ बनाइए उत्तम बनाइए ईश्वर के समक्ष समर्पित होकर के और शीघ्रता से शीघ्र अपने जीवन को पत्र बना लीजिए चाहे हम अच्छे व्याख्याता ना हो प्रवक्ता ना हो लेखक ना हो अध्यापक ना हो लेकिन हम शांत चित्त प्रसन्न निर्भीक संतुष्ट ये हम बन जाए बस बहुत है संसार का उपकार हम ना कर पाए लेकिन अपना उपकार करना ही बहुत है ऐसे कार्य तो होने चाहिए ये मैंने कुछ बातें बताई और कोई सूचना देनी है जी कल का क्या कार्यक्रम है जी आचार्य सब्जी जी बताएंगे सुबह यज्ञ के समय में आप आएंगे और फिर यज्ञ का के बाद में वेद पाठ होता है फिर प्रवचन होता है लगभग आठ सवा आठ तक रहता है साढ़े आठ तक ज्यादा अधिकतम उसके बाद नाश्ता आदि करेंगे फिर आप यहाँ से प्रस्थान करेंगे ठीक है तब मंत्र पाठ करेंगे जो शयनकालीन मंत्र है शिव संकल्प वाले आप हमारे साथ मिलके बोलेंगे आपकी शैली और होगी ओ यज्जाग्रतो दूरमुदैस्ति दैवम् तदुसूक्तस्य तथैवैति दूरङ्गमम् ज्योतिषाम् ज्योतिरेकम् तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु येन कर्मा मानीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदथे सुधीरा यदपूर्वं यक्षमन्तः प्रजाना तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु यत्प्रज्ञानमुत चेतो ऋतिश्च यज्योतिरन्तरमृतम् प्रजासु यस्मान्न किञ्चन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमास्तु येनेदम्भूतम् भुवनम् भविष्यत्परिगृहि सममृतेन सर्वम् येन यज्ञस्तायति सप्तभूता तन्मे मना शिव सङ्कल्पमस्तु ऋचः सामयजुं यस्मिन् रथना भाविवाराः यस्मिंश्चित्तम् सर्वमूतम् प्रजानाम् तन्मे मनः शिव सङ्कल्पमस्तु सुषारथिरश्वानि मनुष्यान्ने नीयते भीषुभिर्वाजिनैव हृत्प्रतिष्ठम् यदजिरम् तन्मे शिव शिवसङ्कल्पमस्तु ॐ शांति शांति शांति सर्वेभ्यो नमः सबको सादर नमस्ते